क्या फिर भी ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसे अपनी तरफ से घड़ लिया है कहो कि फिर तो तुम भी इस जैसी एक ही सूरत घड़ कर ले आओ और इस काम में मदद लेने के लिए अल्लाह के सिवा जिस किसी को बुला सको बुला लो अगर सच्चे हो